शास्त्रीय संगीत की इस महफिल में आज सबका स्वागत है इससे पहले कि महफिल शुरू हो उस्ताद अमजद अली खां साहब के बेटे अमान और अयान उस्ताद हाफिज़ अली खां मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से उस्ताद सलामत खान साहब का स्वागत करेंगे Mm-hmm. खातिन हजरात मुकद्दस वेदों से भारत की तहजीब का सूरज तुलू हुआ वेद जो जबान है जो ब्रह्मा है जो इल्म है जो रोशनी है जो शायरी है और जो पवित्र संगीत है संगीत आदमी को इंसानियत के रिश्ते में जोड़ता है और आईसीसीआर ने उसी इंसानियत के रिश्ते को जोड़ने की एक बार फिर कोशिश की है खातिन हजरात हिंदुस्तान और पाकिस्तानी तहजीबों की जड़ें मोहनजोडारो गंधारा टेक्सला बनारस मथुरा अजंता अजमेर कुतब मीनार ताजमहल और शालामार हर जगह फैली हुई हैं इंसानियत नवाज रिवायात हजारों साल से दोनों मुल्कों की सरजमीन का खासा रही हैं और आज भी हैं मौसीकी की ये महफिल उसी तहजीब और शाइस्तगी का एक हसीन संगम है उस्ताद सलामत अली खां और नज़ाकत अली खां का शुमार पाकिस्तान के मशहूर संगीतकारों में होता है ये दोनों फनकार और रोशनारा बेगम पाकिस्तान के ऐसे फनकार हैं कि जिनकी रिकॉर्डिंग हमेशा पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में भी रिलीज़ हुई और होती रही है उन्नीस में इन दोनों भाइयों को सदर पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया 1960 तक ये दोनों भाई संगीत की दुनिया पर छाए रहे अपने भाई नज़ाकत अली के निधन के बाद उस्ताद सलामत अली खां संगीत को दुनिया में तन्हा अपनी क्लासिकल गायसी से नवाज रहे हैं और अमेरिका बरतानिया यूरोप ईस्ट एशिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अपनी गायकी का मुजाहरा कर चुके हैं और करते रहते हैं उस्ताद सलामत अली खां श्याम चौरासी घराने के नुमाइंदा फनकार हैं संगीत के बहुत से घराने हैं श्याम चौरासी घराना भी उनमें से एक है इन्हें इस साल 1990 के हाफिज़ अली खां अवार्ड से सम्मानित किया गया है जिसे हासिल करने के लिए ये हिंदुस्तान आए हैं उस्ताद हाफिज़ अली खां मेमोरियल सोसाइटी बेंगलोर में इन्हें ये अवार्ड पेश करेगी शायद परसों वो फंक्शन होगा बेंगलोर में जहाँ यह खान साहब के साथ इनके बेटे जनाब शराफत अली खां साहब जनाब लताफत अली खां साहब और शफकत अली खां साहब यहाँ हैं ये लोग भी अपनी गाय गायकी का मुजाहरा करेंगे और खान साहब के साथ भी संगत करेंगे सबसे पहले खान साहब ने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया है असल में और उस प्रोग्राम की सबसे खूबसूरती यह है कि इन नौजवान फनकारों का बड़ी खूबसूरत से तारुफ भी आपकी खिदमत में पेश करने का फैसला किया है खान साहब ने तो सबसे पहले जनाब लताफ़त अली खान साहब दो गज़लें पेश करेंगे और उसके बाद जनाब शफकत अली ख़ान साहब क्लासिकी गायकी का अंदाज पेश करेंगे और फिर उस्ताद सलामत अली खान साहब और शाताब अली शराफत अली खान साहब और फिर उनके फिर आप खुद देखेंगे कि क्या होगा कैसी खूबसूरत महफिल सजेगी तो मैं खां साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो चाहें तो आराम करें चाहे यहाँ बैठें थोड़ी देर और लताफत अली खां साहब से दरख्वास्त करूँगा कि माइक पर तशीफ लाएँ दिल्ली अजीब शहर है अजीब अजीब लोग यहां से गुजरे हैं आप सब बैठे हैं कल नहीं होंगे और कल थे वो नहीं हैं ये अजीब सी दुनिया है और ये सिलसिला यूं ही रहेगा कृष्ण ने कहा है कि मैं समय हूं नंदगांव में भी नहीं ठहरता वक्त कभी नहीं ठहरता चलता रहता है आप बारहा उसे पीछे खींचने की कोशिश करें वक्त आगे जाएगा पीछे नहीं जाएगा लेकिन बड़ी खूबसूरत बात है कि जो लोग इस वक्त के साथ साथ अपना परतव अपनी छाप छोड़ गए हैं वो हमेशा याद रहेंगे चाहे वो मौसीकार हों चाहे वो <clears throat> मौसीकारों के साथ साथ बहुत से फनकार हों अदीब हों दानश्वर हों सूफ़ी हों संत हों उनकी बानियाँ हमेशा जीवित रहेंगी उन्हीं में से एक फनकार हैं गालिब मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब जिनका ताल्लुक दिल्ली से है बड़ी खूबसूरत बात यह है कि लताफ़त अली खां साहब ने उन्हीं के कलाम का इंतखब किया है पहली गज़ल वो पेश कर रहे हैं मिर्ज़ा गालिब की दिल नादा तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है गालिब की गज़ल और लताफ़त अली खां साहब की आवाज़ हजरात संगत करने वालों में मैं चाहता था बाद में बताऊं लेकिन अभी भी बता दूं कि तबले पर श्री मोहन सिंह जी संगत कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी मनमोहन सिंह मैं भूल गया हारमोनियम के साथ हैं ओम प्रकाश जी नहीं है इस वक्त लेकिन वो दोबारा आएंगे संगत करेंगे सारंगी के साथ हैं आसिफ भाई कानपुरे के साथ हैं मोइनुद्दीन और अब गज़ल समाप्त फरमाइए मोजिस खातिन हजरात अपने वालद मोहतर मुस्ताद सलामत अली ख़ान से पहले चंद गज़लियात पेश करूँगा उम्मीद है कि आप लोग हौसला अफजाई करेंगे शुक्रिया 哎。 के उल्फत मुहाल है वरना बात तो आपने बजा की है हाँ के उल्फत मुहाल है वरना बात तो वजह की है दुश्मनों ने तो दुश्मनी की है दोस्तों ने भी क्या कमी की है कर लें हम हैं मुश्ताक और वो बेजार या इलाही ये माजरा क्या परी चेहरा लोग कैसे हैं ये परी चेहरा लोग कैसे हैं ये परी चेहरा लोग कैसे हैं गमजाओ ईश्वरों अदा क्या है आखिर इस दर्द की दवा सौ कहाँ से आए सब गुल कहाँ से आए हैं से सब से आए हैं कब्र क्या चीज भला होगा और दरवेश की सदा कुछ नहीं गालिब हमने माना हमने माना कुछ नहीं गालिब uh... आदम की ये गज़ल पेश करते हैं अगर हुस्न की जागीर लिए बैठे हैं दिल में हम आपकी तस्वीर लिए बैठे हैं चांद को तोड़ के फिर जोड़ने वाले आजा चांद को तोड़ के फिर जोड़ने वाले आजा हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं लोग हैं हश्र में नामाए अमाल लिए तेरे आशिक तेरी तस्वीर लिए बैठे हैं आ किस शग में गुजारी है रात किस शग में गुजार कृष्ण ही मौजूद पर्दादारी पर्दादारी है पर पर्दादारी का दाग जलता है मकान खाली में जैसे चराग जलता है आंख पूर्णम है जिगर जलता है आंख पूर्णम है जिगर जल जिगर जलता है आंख पुरलम है जिगर जलता है क्या कयामत के बरसात में घर जलता है पसे पर्दा भी कुछ नहीं मौजूद पसे पर्दा भी पसे पर्दा भी कुछ नहीं मौजूद पसे पर्दा से भी कुछ नहीं मौजूद पर्दादारी ही पर्दादारी है आपकी लताफत अली खान साहब गज़लें पेश कर रहे थे और अब खां साहब के दूसरे बेटे जनाब शफकत अली ख़ान साहब क्लासिकी गायकी का मुजाहरा करेंगे थोड़ी देर Thank you. 嗯。 की इस खूबसूरत महफिल का आगाज़ मेरे बड़े भाई लताफ़त अली खान साहब ने किया आपने बहुत इन्जॉय किया अब क्लासिकल म्यूज़िक का दौर शुरू करते हैं अपने वाल साहब उस्ताद सलामत अली ख़ान सबसे पहले मैं शफकत अली ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ये मेरा दूसरा दौरा है हिंदुस्तान का आईसीसीआर ने एक दफ़ा फिर आप लोगों की ही खिदमत करने का मौका दिया है हिंदुस्तान दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ गाना गाकर मज़ा आता है कोई सुने या ना सुने लेकिन मज़ा आता है तो आज मैं अपने हिंदुस्तान के बहन भाइयों के आगे खान हाँ साहब एक बात से मुझे इतफाक़ नहीं है कि हिंदुस्तान में आप ये नहीं कह सकते कि कोई सुने या न सुने ये मैंने वैसे ही कहा है यहाँ बड़े सुनने वाले हैं लेकिन मतलब नहीं हम तो ये कहेंगे अपनी आप सबकी तरफ से कि इस सर हमको वफाओ मेहर से कासिर न जानिए हमको वफाओ मेहर से कासिर न जानिए इस सरजमी पे खुद को मुसाफिर न जानिए थैंक यू वेरी मच तो आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत राग आप लोगों की नज़र करूंगा मैं राग मद कल्याण एक कल्याण का स्वरूप है छह सुर का ये राग मध्यम का सुर इसमें नहीं लगता पंचम इसका वादी है खर संवादी गाने में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे बड़े भाई लताफत अली खान साहब और तबले पर मनमोहन सिंह जी संगत कर रहे हैं सारंगी पर आसफ खान साहब मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगा राग मत कल्याण थैंक यू Mm-hmm. No. na कहूँ के ना के न बैरन संग लगन रचाए अमरे एक न माने आ, ओ, yeah, no. morgen, amare kadar amare करना के न माने कहे को न मानी के न संग लगन रचाए हमारे नमः माने माने कहो के नाम माने मानने का एक्सप्रेशन ऐसे भी हो सकता है माने लेकिन इसमें इल्तजा है माने बेकदर में कदर न जाने रे जा कैनमा माने कहो कैन माने रे बल मा के नवरन संग लगन रचाए अमर कदर ना जाने गाहोगे न कहोगे न गाहोगे न माने मन मान लगाने का अंदाज है पूरी दुनिया का हमारा एशिया का स्टाइल और